धन्य भरत जय राम गुषाय कहत देव हर सवासब काहू भरत बचन सुने दयव उछा भरत राम गुण ग्राम सरेहु फुल के प्रशंसत रावो विदेहु सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेमयती पावन पावन भरत जी धन्य हैं स्वामी श्री राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभा सद सब अनुरागे सुन सुन राम भरत संवादो दु समादहि हर विसादो राम मातु दुख सुख स कहि गुण राम प्रबोधि रायणी एक कही रघु वीर बड़ाए एक सराहत भरत भलाए मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद होने होने दोनों हुए श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकोप राखिय तीरथ तो यत पावन अमीयनोप तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए भरत शासन पाए जल भाजन सब दिए चलाए सानुजयापु मुनि साधु सहित गए जहाँ पावन पाथ पुण्यथल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाखा तातयनादे सिद्धथल ये लोपे उकार विदित नहीं के भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा हे तात यह अनादि सिद्ध स्थल है कालक्रम से यह लोप हो गया था इसलिए किसी को इसका पता नहीं था तब दे तब सेवकन सरस थल देखा के न सुजल हित कूप विषेखा विधि बस भयो विश्वपकारा सुगम अगमयते धर्म विचारु भरत कूपय हहि लोगा अति पावन ते रथ जल जोगा प्रेम सने मने मजत प्राणी हो यही बिमल करम मन बायने तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया दैवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कुप के प्रभाव से सुगम हो गया अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे तीर्थों के जल के सहयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव अत्र सुनाय रघुबर है तीर्थ पुण्य प्रभाव कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया